Krishna ऋग्वेदीय परिषद द्वितीय अध्याय प्रारंभ में पूर्व अध्याय के निष्कर्ष को लेकर के कुछ विचार चल रहा है अवतरण भाष्य है पूर्व अध्याय में जितने भी बातें बताई एक ही आत्मा है आत्मा से अतिरिक्त वस्तु कुछ भी नहीं यही सिद्ध हुआ है सब जगत की रचना आदि विवर्तवाद है परिणाम बात नहीं है वास्तव में सृष्टि है नहीं रज्जु में सर्व वास्तव में होता नहीं केवल भासता है रज्जु ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति हो जाती है अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है वैसे जगत है जगत के पहले जब आत्मा एक ही है आत्मा भाई इतमय वापरे आशित नाम ने चिंतन में सब ऐसा कहा तो फिर यहां जगत कहां से आ सकता है केवल उसमें दीखता है देखना वस्तु होता नहीं है एक ही आत्मा है तीनों काल में एक अद्वित अद्वितीय आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं इस बात को सिद्ध करना है इसी के स्थिर करने के लिए यहां प्रसंग चला हुआ है ये आत्मा एक ही आत्मा है बाकी कोई वस्तु नहीं ये सिद्ध करना है किसी को स्थिर करना है इसलिए यहां कुछ शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है तो इसमें <clears throat> चल रहा था कि पूर्वादि ने कहा था अन्य इंद्रियों का विषय न होने पर भी आत्मा मन का विषय होना चाहिए क्योंकि हाँ मनोवशे सर्वमिदम बभूवा ऐसा श्रुति आई है सबके सब मन के अधीन हो गए ऐसा कहा श्रुति में आया इसके मतलब मन का आत्मा तो मन के वश में होना चाहिए मन के विषय होना चाहिए तो सिद्धांत कहते हैं मन के भी साक्षी है वो मन के साक्षी को मन नहीं जान सकता जो मनकाय में ज्ञाता है नहीं मतेर मंतारम मनमीठा ऐसा आया जो मनोवृत्ति को भी जो साक्षी रूप से दिखता है उसको तुम जान नहीं सकते मन से जान नहीं सकते ऐसा कहा है इसलिए मन के भी हो विषय नहीं बन सकता आत्मा अन्य इंद्रियों का विषय तो बनता ही नहीं इसलिए टीका में चल रहे थे कठोपनिषद में कहा था परांचिखानी विदृढ़ स्वयंभूष तस्मात परांग आत्मन ऐसा है इंद्रिय जितने भी हैं बहिर्विषय बनाया है परमात्मा ने बाहर के विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रिय को बनाया है पराग अंचतली परांची बाहर करने वाले आत्मा भीतर है इंद्रियों का स्वरूप है बाहर जाना तो तस्मात पराग आत्मा इसलिए इंद्रिया जो है आत्मा को विषय नहीं कर सकते बाहर के विषय को विषय बनाते हैं ऐसा कहा है श्रुतिया करणानाम बहिर्विषयत्व से निवश्य आत्मविषयत्व अभाव से जो होता है करण जो इंद्रिया है बाहर ही उनका विषय होता है बाहर के विषयों को ही विषय करते हैं आत्मा उनके विषय नहीं हो सकता ये सिद्ध हुआ है परिषद में ये कहा और यन मनसा नमुनते इति श्रुते परिषद में कहा यन मनसा नमुनते यनाहुर मनोमतम तदेव प्रमुख मृत्यु वेदवास केनो परिषद में कहा जो मन के द्वारा जिसको विषय नहीं किया जा सकता है जो मन का भी जो विषय बनाता है वो आत्मा होता है मन को जो जानता है मन जिसको नहीं जानता वो आत्मा होता है ऐसा कहा है केनोपनिषद में मनसो बहिर्विषय मंतव्य एवं व्यापारो नात्मन इत्यास मन का जो है अपने मंतव्य जो विषय बाहर का विषय होगा माननीय विषय जो बाहर होगा शब्द स्वरूप रूप रसगंध उसी में ही व्यापार होता है मन का इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों का ही मनन करता है मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर वृत्ति भीतर आ जाती है तो मन मनन करता है मनोबहिर् विषय मंतव्य मन का जो है बाहर के विषय जो मंतव्य विषय बाहर है इंद्रियों के माध्यम से जो बाहर का विषय आ जाते हैं उसी को मंतव्य करता है व्यापार मन का वही है नात्म नहीं आत्मा में मन का व्यापार नहीं मन विषय नहीं बना सकता आत्मा ये कहते हैं न च मंतूर एक बना था न तो मंदूर भाष्य में कहा था इस बात को न तो मंतु का मंता का मंतव्य से अन्य हो नहीं विषय नहीं हो सकता ये बोला था न तो एवं सदी कश्चित देर प्रत्येगात्मा अक्षत मनसा एवं इत्यादि नाम कहा गति पूर्वादि शंका करेंगे महाराज जब मन का विषय आत्मा नहीं होता है कठोपनिषद में कहा पूर्व में तो निषेध कर दिया किसे परांजी खानी स्वयं तस्मात परांग पश्य दिनांतरात्मन पूर्वार्ध में निषेध किया और उत्तरार्ध में मन को विषय दिखाया है कश्चित धीर प्रत्येगात्मा अमेक्षण आवृत चक्षुर अमृतत्व विक्षण कहा कोई धीर पुरुष ने उस आत्मा को जाना जानता है कोई धीर पुरुष विवेकी तो जानने के साधन तो मन ही है तो मन से ही जाना और किसे जाना उसको कश्चित धीर प्रत्येगात्मा अमेक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्व व्यक्ति करके मन का विषय दिखाया है कठोपनिषद में दूसरी बात मनसा एवं में ऐसा भी कहा है मन से ही जानना चाहिए उसको मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम लेनाथ किंचन ऐसा भी स्थिति है मन से ही उसको जानना चाहिए तो मन का विषय तो होता ही है ये पूर्वादि कहे सिद्धांत कहते इन श्रुतियों क्या गति होगी फिर मन को विषय दिखा रही मन का विषय बना रहा है आत्मा को इस श्रुतियों क्या गति तो कहते हैं वास्तव ऐसा नहीं कहना क्यों वो जो कश्चित धीर प्रत्येगात्मा ऐक्षत आदि स्तुति का एक अर्थ होता है मनसो बहिर्विक्षेपा भावे जो बाहर के विषयों में मन नहीं जाता भीतर में जो एकाग्र हो जाता है मन मन का बाहर के विषय का विक्षेप का अभाव हो जाने से एकाग्रे सती जब मन एकाग्र होगा जब बाहर के विषय में नहीं जाता है उस काल में मन एकाग्र हो जाता है एकाग्र होने मन के एकाग्र होने पर आत्मा स्वयं प्रकाशित आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है मन विषय नहीं बनाता जब मन बाहर नहीं बाहर जाना बंद करता है जब बाहर के विषय को विषय नहीं बनाता है उस काल में मन एकाग्र हो जाता है एकाग्र होने पर आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है जब तक मन विक्षिप्त है बाहर विषय में जा रहा तब तक मन आत्मा प्रकाशित नहीं होता जब मन एकाग्र होगा बाहर विषय में जाना बंद करेगा तब आत्मा स्वयं प्रकाशित होगा यह अर्थ है इसका अर्थ कश्चित धीर प्रत्यगात अनपेक्षित आदि स्थिति का यह अर्थ है ना कि मन उसको विषय बनाता है ऐसा नहीं है माने आत्मा में वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति नहीं है बोलना चाहते हैं अच्छा अन्यथा यदि ऐसा अर्थ नहीं करेंगे स्वयं प्रकाश नहीं मानेंगे तो पूर्वोक्त न्याय उपगृहित अमतो विज्ञात अभिज्ञात इत्यादि श्रुति बहुश्रुति व्यापक पश्चात यदि आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है नहीं मानेंगे मन एकाग्र होने पर आए आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है यदि ऐसा अर्थ नहीं करेंगे उस स्थिति में क्या होगा तो पूर्वोक्त न्याय यह है आत्मा आत्मा को देखता है मैंने दो आत्मा हो करके देखना एक आत्मा एक आत्मा को जानता है बोलना अथवा एक ही आत्मा में दो अंश हो जाना तो ये गलत हो जाएगा यही पूर्वोक्त न्याय है अन्यथा पूर्वोक्त न्याय बोलने तो उस युक्ति से सिद्ध जो अद्वैत आत्मा है अमतो अभिज्ञात कहा हुआ है उसको जानने वाला कोई नहीं इसलिए अमत होगा अभिज्ञात होगा आत्मा ऐसा कहा वस्तु को मन का विषय नहीं बुद्धि का विषय नहीं ऐसा कहा इत्यादि बहुत श्रुति व्यापक बस्या सारे श्रुतियों का व्यापक होगा कश्चित देर प्रत्येगात्मा अक्षर मन का विषय बना होगा तो बहुत श्रुतियां व्यापक करेंगे अमता अभिज्ञात बोला आत्मा किसी का विषय नहीं बनता कहा हुआ है इसलिए कश्चित धीरे प्रत्येगात्मा अक्षर का अर्थ है कि मन में जब बाहर के विषयों पर जाना बंद हो जाता है विक्षेप रहित हो जाता है एकाग्र हो जाता है उसका अल्प आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है एवं आत्मन साक्षात मनसा मंतव्य तो पक्षे एक शरीर आत्मभेद तस् सकली भाव वश्यादी उपदोष अनुमिति विषय तो पक्षे भी इसे यही सिद्ध हुआ अब तक आत्मा में साक्षात मन का मंतव्य मानकर पर मन का विषय होता है आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है नैयायिक मानते हैं मन के द्वारा आत्मा को जाना जाता है मन का विषय होता है मानते हैं नैयायिक ऐसा मानने पर एकस्मिन शरीर है आत्मभेदा दो आत्मा होगा तो एक आत्मा मन के द्वारा फिर दूसरे आत्मा को जानेगा आत्मभेद अथवा एक ही आत्मा का दो अंश एक अंश जानेगा एक अंश विषय बनेगा ऐसा ये दोष आएगा ये जो दोष आया था प्रत्यक्ष पक्ष में अनुमिति पक्ष में वही दोष आएगा अनुमान से सिद्ध करेंगे जब चक्षुरादि के व्यापार को लेकर के आत्मा है करके अनुमान करने जाएंगे वही दोष आने वाला है बोलते हैं अनुमिति पक्ष अनुमिति विषय तो पक्ष क्या वही दोष अनुमिति का विषय बनाएंगे आत्मा को उसमें वही दोष होगा ये कहा यदा भी करके भाष्य में कहा इसको यदापि लिंगे न न मनते मनता जब मनता लिंग के द्वारा चक्षुरादि व्यापार लिंग होता है चक्षुरादि इंद्रियों में व्यापार हो रहे इसे आत्मा है जो चक्षुरादि इंद्रियों के व्यापार से जो आत्मा को अनुमान से सिद्ध करना चाहता है उसका तदा भी पूर्वपद एवं पहले जैसे दोष आने वाला है दो आत्मा होगा तो एक आत्मा दूसरे को अनुमिति का ज्ञान का विषय बनाएगा अथवा दो अंश होगा तो एक अंश अनुमान करेगा एक आत्मा अनुमिति का विषय बनेगा यही होगा न मंतव्य आत्मा एक तो लिंग माने इंद्रियों का व्यापार के द्वारा मंतव्य के विषय होने वाला आत्मा एक और दूसरा यश तस्य मनता और उस आत्मा को जानने वाला जो होगा अनुमिति का ज्ञाता तो दो है अथवा वो दो आत्मा की प्रसक्ति होगी ये भी दोष है एक एवं द्विधा पूर्व अथवा एक ही आत्मा का दो अंश बना करके एक अंश जानेगा एक अंश विषय बनेगा ऐसा वही पूर्वक तो दोष है प्रत्यक्ष पक्ष में जो दोष था अनुमिति पक्ष में वही दोष है ठीक है एवं अमतो अभिज्ञात की श्रुतिया श्रुति में कहा है आत्मा का विषय अमत अभिज्ञात मन का विषय नहीं बुद्धि का विषय नहीं ऐसा कहा है जब मन का विषय नहीं तो इंद्रिय का विषय कहां से होना है अमत अभिज्ञात इस श्रुतिया न्याय ब्रह्मितया ये जो श्रुति है अभिज्ञाता आदि श्रुति युक्ति से सिद्ध है सर्वात्मना ज्ञेयत्व अभाव स्थित में स्थित हुआ आत्मा में किसी भी प्रकार से ज्ञेयत्व विषयत्व नहीं आ सकता किसी भी इंद्रियों का मन का बुद्धि का किसी का विषय नहीं हो सकता है क्यों सबका दृष्टा है वो कैसे उसको विषय बनाएगा कौन बना सकता विषय जिस अग्नि से जलने वाली लकड़ी वो अग्नि को नहीं जला सकती जिस आत्मा के द्वारा ये देखे जा रहे हैं सब वो कैसे आत्मा को विषय बनाएंगे नहीं बना सकते ये सिद्ध होगा एक कहा तत्र पूर्ववादी संगत उस स्थिति में अब पूर्ववादी शंका करता है क्या शंका करता है तो कहा न प्रत्यक्षण ना भी अनुमान में ज्ञाए थे चेत जानने का साधन ये दो ही है तो प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से मन के माध्यम से जानना है या अनुमान के आत्मा को जानना है इंद्रियों को व्यापार हो रहा है व्यापार है तो चेतन के बिना नहीं हो रहा है तो चेतन है आत्मा है जानना है दोनों से नहीं हो पा रहा है न प्रत्यक्ष ना भी अनुमान क्या है चेत प्रत्यक्ष के द्वारा भी आत्मा का अनुमान नहीं हो रहा ज्ञान नहीं होता और अनुमान के द्वारा भी नहीं होता नहीं जाना जाता आत्मा तो प्रथम उच्चते फिर ये कैसे कहा जाता है समय आत्मा एक विद्या तो मेरी आत्मा है ऐसा जाने जानने का साधन निषेध हो गया जाने करके कैसे जाने स्तृति की संगति कैसे लगाएंगे समय आत्मा विद्या ये कैसे जाने और कथम बा श्रोता मनता और श्रोता मनता कैसे बनेगा सुनने वाला आदि जब किसी का विषय नहीं बनना है अनुमान से भी नहीं जानना है प्रत्यक्ष भी नहीं जानना तो श्रोता मनता कैसे बनेगा तो उसको कैसे कहा जाएगा और शब्द सुन रहा है इसलिए तो श्रोता बोलना होगा जब शब्द सुन करके अनुमान नहीं कर पा रहे हैं उसको तो कैसे श्रोता मानेंगे उस आत्मा ये पूर्वादि की शंका है इसमें से अब तो समय आत्मा विद्या इसका तो उत्तर आगे जाकर के देंगे इसका संगति लगाएंगे कैसे लगाना होगा तो चौहत्तर पृष्ठ में जाकर के उत्तर देंगे इसका अभी श्रोता मंता जो बोला गया उसकी संगति लगा देंगे गुरुबाज ने कहा था ये दो बातें कैसी होगी जब आत्मा साक्षात इंद्रियों का विषय भी नहीं होता मन का विषय भी नहीं होता अनुमिति का विषय भी नहीं होता फिर ये कैसे कहा समय आत्मा विद्या तो मेरी आत्मा ऐसा जाने एक श्रुति ऐसी बोलती है ऐसे रात में तुम्हें है और दूसरी बोलती है श्रोता मनता आत्मा को श्रोता मनता कहा तो अनुमिति के द्वारा जानना है श्रोता रूप से कैसे जाना जाए तो ये पहले वाला जो प्रश्न होगा पूर्वादि का समय आत्मा विद्या इत्यादि इसका उत्तर बाद में देंगे पहला देंगे श्रोता मनता कैसा बनता है आत्मा विषय न होने पर कैसा होता है उसके बारे में बोलना चाहते इत्यादि कहा ठीक है ज्ञयत्व प्रतिपादक श्रुते श्रोतृत्वादि धर्मवत्व प्रतिपादक श्रुते से अनुपत्ति हाँ आत्मा को ज्ञेय बताने वाली श्रुति है समय आत्मा विद्या जानना है विषय बनाना है दूसरा श्रोता मंता करते समय आत्मा को श्रोतृत्वादि धर्मवान मानना है ये दोनों श्रुति नहीं नहीं हो पाएगी जब आत्मा को कोई विषय नहीं कर सकता है मन का भी विषय नहीं होता है तो आत्मा को तो जानने का साधन नहीं है फिर समय आत्मा विद्या कैसे होगा और ये जब आत्मा को कोई विषय नहीं हो सकता है तो अनुमिति का विषय नहीं तो श्रोता मंता पद का प्रयोग कैसे हुआ श्रुति में ये शंका है तो एक पूर्वादि की शंका में गैर तो प्रतिवाद की श्रुति है ये समय आत्मा विद्या आत्मा गय होता है कह रही श्रुति ज्ञान का विषय बनाओ बोल रही है और दूसरा श्रोतृत्व आदि धर्मत्व प्रतिवाद का आत्मा श्रोतृत्व आदि धर्मवान है बोल रही श्रोता मंता श्रुति ये दोनों श्रुति के अनुभूति ये श्रुति नहीं घट पाएगी अगर आत्मा को विषय नहीं कर सके मन के द्वारा ये पूर्वाधीन होगा कैसे जाने उसको टिप्पणी एक नंबर की धर्मवत्व धर्मवत्व ही तत्प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान आदि जन्य बोल विषय तो असमर्थ अभाव जो धर्मवान होगा धर्म वाला होगा तो उस स्थिति में क्या होगा धर्म बनेगा प्रकार ये कहते हैं धर्मवत्व ही तत्प्रकार धर्म प्रकार धर्मवान जो होगा कोई धर्म विशिष्ट है तो धर्म प्रकार का धर्म होगा विशेषण वहां प्रत्यक्ष अनुमान आदि जन्य बोध विशेषत्व अवश्य तो धर्म प्रकारक प्रत्यक्ष ज्ञान हो अथवा धर्म प्रकारक अनुमान ज्ञान धर्म वाले का ज्ञान अवश्य होता है ये पूर्वादि ने कहा इसलिए तथा अवैध धर्मवत्व प्रतिपादन अयोगा फिर अयोग्य हो यदि विषय नहीं होता हो आत्मा तो धर्मवान बन नहीं पाएगा वो धर्मवत्व प्रकार नहीं आएगा प्रतिपादन आएगा इति भाव है अवश्यम भावात्मा ने तथा दर्शन अवश्य है जहां धर्म धर्मवान आएगा तो धर्म प्रकार ज्ञान होगा श्रोतृत्वादि धर्म है और श्रोता आत्मा है तो ज्ञान होगा कैसे जाना जाए ये पूर्वादि की शंका है सिद्धांत उत्तर देंगे टीका में तत्र विद्यादि श्रुतौ हाँ, जो समय आत्मा विद्यादि जो श्रुति है ये श्रुति का उत्तर तो बाद में देंगे तत्र दो दो प्रश्न है पूर्वादि का समय आत्मा विद्या कैसे होगा और श्रोता मनता कैसे लगेगा तो उसमें से तत्र विद्यातिथि श्रुत इतर निषेधे सदेशो प्रकाशत्व न स्वतस्फूर में उच्चते न तो कर्मतया व्यक्तित्वित परिहारम बक्ष्याम इति अभिप्रत्य श्रोतृत्वादि श्रुतौ परिहारम दोनों का उत्तर देना है सिद्धांत ने समय आत्मा विद्या कैसे घटाना है और श्रोता मनता कैसे घटाना है विषय न बनता हो तो तब कहते हैं पहले वाले का उत्तर बाद में देंगे समय आत्मा विद्यात्मा तत्र दो प्रश्नों में विद्यादिति श्रुतौ जो समय आत्मा विद्यादि जो स्तुति उस स्तुति का उत्तर इतर निषेधे सती देखो पहचान का दो तरह की पहचान होता है ये व्यक्ति अमुक है विधि मुख से कहा जाता है नाम लिया जाता है ये विधि मुख से जाना जाएगा और एक होगा इस व्यक्ति का पहचान कराने के बाकी सबका निषेध करना ये व्यक्ति वो नहीं है वो व्यक्ति वो नहीं ऐसा करके निषेध करते करते जो एक बचेगा वो सिद्ध हो जाएगा इतर व्यावृत्ति के माध्यम से ही उसका परिचय देना है समय आत्मा विद्या हाँ। ऐसा नहीं विधि मुख से नहीं निषेध मुख से इतर का निषेध के बाद जो बचेगा वो आत्मा स्वतः समझेगा वहां विधान करने की आवश्यकता नहीं होगी ये ये रूप से समय आत्मा विद्या का अर्थ करना है क्योंकि तो व्यक्ति का परिचय दो प्रकार से कराया जाता है तो विधि मुख से ये राम है ऐसा नाम दिया यह है राम और इसी राम को बताने के लिए ये राम नहीं ये राम नहीं ये राम है बाकी जितने थे सब का निषेध कर दिया और एक के लिए बोला नहीं चुप रह गया तो समझ जाएगा वो राम है बोलना नहीं पड़ेगा वहां इतर निषेध के द्वारा यही है शिवमय का अतत व्यावृत्यायम चकित अभिधत्ते श्रुति श्रुति भी आपके बारे में भगवान अतत व्यावृत्ति से बोलती है और इतर के निषेध के द्वारा आपको परिचय कराती है आपके बारे में विधि मुख से परिचय नहीं करा सकती श्रुति इतर निषेध के द्वारा तो ऐसे जो समय आत्मा विद्या का तो यही अर्थ करेंगे आगे चौहत्तर पृष्ठ में अर्थ करेंगे इस श्रुति में इतर निषेधे सती जो आत्मा से अतिरिक्त का निषेध कर देंगे ये आत्मा नहीं ये आत्मा नहीं ये आत्मा नहीं ये आत्मा नहीं सबका निषेध कर देंगे इतर निषेधे सती आत्मा से इतर जितने भिन्न जितने हैं सबका निषेध करने पर स्वप्रकाशित तो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा उसको फिर यह आत्मा है कहने की आवश्यकता नहीं होगी स्वयं समझ जाएगा स्वप्रकाशत्व स्वतः स्पूर्ण में उच्चते उस स्थिति में स्वतः स्पूर्ण हो जाएगा आत्मा का वहां विधान की आवश्यकता नहीं होगी उसका तो उत्तर ये है न तो कर्मतया विषयतया नहीं ज्ञान का विषय रूप से नहीं इतर का निषेध के द्वारा स्वतः स्पूर्ण हो जाएगा आत्मा का न तो कर्मतया वेद्यत्व मान विषयतया व्यक्तित्व कर्म मान विषय विषय रूप से वेद्य नहीं किसी मन का विषय बना करके वेद्य नहीं आपका समय आत्मा विज्ञान करता यह अर्थ आगे परिहार इसका खंड उत्तर देंगे आगे चौहत्तर पृष्ठ में इसका उत्तर देंगे अभी तो हम सबसठ पृष्ठ में बैठे हैं आगे जाकर उत्तर देंगे इसका किंतु अभी दूसरे श्रुति श्रोता मनता कैसा बनेगा जब विषय नहीं होता है अनुमान का विषय भी नहीं है हाँ प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं है तो श्रोता श्रोतृत्व आदि धर्म के द्वारा श्रोता समझना है उसको जिसमें मनुष्यत्व रहेगा उसको मनुष्य समझा जाता है मनुष्यत्व है बिना मनुष्य नहीं कहा जाता ये व्यक्ति मनुष्य है क्यों बोला इसमें मनुष्यत्व दिखता है क्यों दूसरे में मनुष्यत्व नहीं है जो पशु होते हैं वो मनुष्यत्व नहीं दिख रहा है इसमें मनुष्यत्व दिखता है इसलिए मनुष्यता इसको पशु क्यों नहीं कहते हैं या पशु तो नहीं दिख रहा है क्या दिखता है मनुष्यत्व दिखता है इसलिए इसको मनुष्य कहते हैं धर्म के द्वारा धर्मी का पहचान होता है वो प्रकार है विशेषण है धर्म उसी धर्म के द्वारा इसको व्यावृत्ति अलग कर दिया जाता है अन्य से व्यावृत्ति किया जाता है जितने जो होते हैं ये जाति करके नैयायिक बोलते हैं तो व्यक्ति को अलग करने के लिए जाति की आवश्यकता है धर्म ये कहना चाहते हैं श्रोत आदि का परिहार बोलते हैं ननु करके सिद्धांति का शंका है ननु सिद्धांति बोलते हैं ननु श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा अश्रुत्वादि च प्रसिद्धम आत्मा किमत्र विषमम पश्यसी यद्यपि तब न विषमम तथा भी मम तो विषमम प्रतिभाती सिद्धांत कहते देखो आत्मा दोनों धर्म वाला है श्रोतृत्वादि धर्म वाला भी है और श्रोतृत्वादि धर्म वाला भी है तुम केवल आत्मा को श्रोता ही मानते हो हम तो श्रोता भी मानते हैं अश्रोता भी मानते हैं श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा श्रोतृत्वादि धर्म वाला आत्मा है अपने स्वरूप भूत है श्रोतृत्व धर्म आत्मा का स्वरूप ही है वो साक्षी का स्वरूप है ये लेकर के बोलेंगे टीका में इसका व्याख्या कर देंगे श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा श्रोतृत्वादि धर्म वाला आत्मा है मैंने स्वरूप रूपेण धर्म है स्वरूप से अतिरिक्त धर्म नहीं है और असुरत्वादि जब प्रसिद्ध आत्मा असुरत्वादि धर्म भी आत्मा में है आत्मा को श्रोता भी बोलते हैं अश्रोता भी बोलते हैं केवल श्रोता ही होता है ये तुम्हारा पक्ष गलत है सिद्धांत ये पूर्वादि के लिए बोलना चाहते हैं किमत्र विषम पश्चिम तुम विषम क्यों देखते हो श्रोता ही क्यों मानते हो श्रोता मानना है तो अश्रोता भी मानो किमित तो अत्र विषम पश्यति या विषम क्यों देखते हो तो श्रोता ही मानना आपका श्रोता होता है श्रोता मंदा यही बोल रहे तुम्हारे यही प्रश्न है श्रोता मंदा कथा कैसे बनेगा तो अश्रोता भी तो होता है तो। यद्यपि तबर विषमम तथा भी ममत विषम प्रतिभा सिद्धांत के तुम्हारे लिए तो विषम नहीं दिख रहा है तो श्रोता ही मानना चाहते हो आत्मा को किंतु अश्रोता को नहीं मानना चाहते हो मुझे विषम दिखता है श्रोता है तो अश्रोता भी है श्रुति में दोनों बातें आती है श्रोता अश्रोता मनता अमनता विज्ञाता अविज्ञाता सभी आते हैं तो पूर्वादि बोलता है कथम कैसे होगा श्रोतृत्व अश्रोतृत्व दोनों दोनों धर्म आत्मा में तो कैसे आएंगे तो कहते हैं यदा असौ श्रोता तदा न मनता देखो जिस काल में व्यक्ति सुनता है शब्द सुनता है उस काल में मान नहीं कर सकता मनता नहीं बनता उस काल में उस काल में श्रोता ही रहेगा और जब मनता बनता है तो श्रोता नहीं रहेगा तो श्रोतृत्व तो अश्रोतृत्व तो दोनों हो गया जिस काल में शब्द सुनता है तो श्रोता और जिस काल में मनन करता है तो अश्रोता यदा असौ जो व्यक्ति आत्मा असौ श्रोता जब सुनता है शब्दों को सुनता है तो श्रोता बोलेंगे शब्द सुन रहा है जिस काल में उस काल में मनन नहीं कर सकता तदा न मनता उस काल में मनता नहीं होगा सुनते समय में मनता नहीं बनेगा और यदा जब मनता जब मनन करने लग गया तदा न श्रोता उस काल में श्रोता नहीं होता तो श्रोतृत्व भी आया अश्रोतृत्व आया जब श्रवण काल में श्रोतृत्व है श्रवण के दूसरे काल में अश्रोतृत्व है तत्र एवं सती जब ऐसी स्थिति है श्रोता भी हो जाता है अश्रोता भी जब शब्द सुनता है तो श्रोता है मनन काल में श्रोता नहीं है वो मनता बना हुआ है अश्रोतृत्व आएगा उस काल में अश्रोता बनेगा तत्र एवं सती दोनों है आत्मा में श्रोतृत्व भी है अश्रोतृत्व भी श्रवण काल में श्रोतृत्व मनन काल में अश्रोतृत्व श्रोता नहीं उस काल दोनों धर्म होने पर सती पक्षे श्रोता मनता पक्षे न श्रोता ना भी मनता स्थिति में होगा एक पक्ष में श्रोता एक पक्ष में मनता स्थिति आएगी माने जब मनन करेगा तो मनता श्रवण करेगा तो श्रोता एक पक्ष में आएगा एक पक्ष में न श्रोता न मन ना भी मनता जब मनन काल में श्रोता नहीं है और श्रवण काल में मनता नहीं है एक पक्ष में न श्रोता न मनता अश्रोतृत्व अमंत्रित्व आ जाएगा एक पक्ष में तथा अन्यत्र भी इसी प्रकार अन्य में भी एक घटाना जब ध्यान क्रिया सूंघता हो जिसका हाल में तो शब्द नहीं सूंघ सकता हो उस काल में अश्रोता रहेगा घ्राता बनेगा जब शब्द सुनता है तो अग्राता हो जाएगा इधर घ्राण क्रिया नहीं कर सकता हर क्रिया में ऐसा लगा ये कहा यदा एवं जब ऐसी स्थिति है आत्मा श्रोता भी होता अश्रोता भी होता यदा एवं तदा श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा अश्रोतृत्व धर्मवान बा इस स्थिति में अब शंका आ जाएगी आत्मा श्रोतृत्वादि धर्म वाला है जो देखा गया है जब सुनता है तो श्रोता हो दिखाई पड़ रहा है और मनन करता है तो मनता रूप देखा श्रोता नहीं दिख श्रोतृत्व नहीं दिखता है मनन काल में श्रोता नहीं दिख रहा है श्रवण काल में मनता नहीं दिख रहा है जब ऐसा दिख रहा विरोधी धर्म दिख रहा आत्मा में श्रोता अश्रोता दोनों उस काल में संशय हो जाता है यदा एवं जब ऐसी स्थिति है श्रोता अश्रोता दोनों दिख रहा है तदा श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा अश्रोतवादि धर्मवान आत्मा क्या धर्म वाला है शंका आ जाती है श्रोतृत्वादि धर्म वाला है या अश्रोतृत्वादि धर्म वाला है क्यों कभी अश्रोतृत्व दिख रहा है आत्मा में कभी श्रोतृत्व दिख रहा है जब शब्द सुनता है तो आत्मा में श्रोतृत्व धर्म दिखता है और मनन करता है जब तो अश्रोतृत्व धर्म दिखता है मनन काल में तो मंत्रित्व धर्म होगा इस स्थिति में संशय हो जाता है तो यदा एवं ऐसा है तब तदा श्रोतृत्व आदि धर्मान आत्मा अस्त्रोतृत्व आदि धर्मान वा यदि संशय स्थान है ऐसा संशय होने पर कथम न तब अवैषम है फिर तुम्हारे लिए विषमता क्यों नहीं सिद्धांत बोलते पूर्व पक्ष में तुम केवल श्रोता ही मान के बैठे हो कथम श्रोता मनता ऐसा कहा ना तो ये तुम्हारे क्यों विषमता नहीं दिखता तुम्हें अश्रोता श्रोता भी तो कहा है श्रुति ने तो श्रोता ही क्यों पक्षपाती भी लेके बैठे हो ये कहा संशय स्थान होने पर प्रथम न तब वैषम्यम फिर तुम्हारे यहाँ विषमता क्यों नहीं अरे पूर्वादी के मत को श्रोता ही मान रहा आत्मा को अश्रोता मानने को तैयार नहीं है दोनों दिखता है आत्मा में शब्द सुनता है तो श्रोतृत्व दिखता है मनन करता है तो अश्रोतृत्व दिखता है उस काल में तो दोनों धर्म दिख रहा है तो एक पक्ष लेना क्यों विषमता दिख रहे थे कहा कथम न तो वैषम्य ठीक है संशय टिप्पणी यथोक्त संशय विषय आत्मनि संशय का विषय बना हुआ आत्मा श्रोता है कि अश्रोता है क्योंकि कभी श्रोतृत्व दिख रहा कभी अश्रोतृत्व दिख रहा है जब श्रवण करता है तो श्रोतृत्व दिखता है मनन काल में श्रोतृत्व नहीं दिख रहा अश्रोतृत्व दिख रहा है संशय वाला आत्मा श्रोतृत्व धर्म वाला है कि अश्रोतृत्व धर्म वाला है यथोक्त संशय विषय आत्मा ऐसा संशय का विषय बना हुआ आत्मा में अन्य तरह प्रमाणम जब एक प्रमाण विशेष जब तक नहीं मिलेगा प्रमाण अन्य तरण में बिना अन्य तरण बिना बिना प्रमाण अन्य तरह कोटि परिग्रह तप वैश्रम निर्मूल है सिद्धांत का तुमने एक कोटि का ग्रहण कर लिया है श्रोतृत्व धर्म का ही ग्रहण कर लिया आपका श्रोता ही होता है कहा कि जो अन्य तरह कोटि पर बिना प्रमाण का प्रमाण है ही नहीं तब वैषम्यम निर्मूल है तुम्हारी जो विषमता है इसका मूल नहीं मिलने वाला है सिद्धांत बोले पक्षपात है ये वही कहते पक्षपात है तुम्हारा जब दोनों धर्म दिख रहे हैं आत्मा में संशय हो रहा है क्या धर्म वाला है निर्णय करना है तुम एकाएक बोल रहे कि श्रोता ही आत्मा ये सिद्धांत ने कहा कहते देखो दृष्टांत से समझाते हैं इस बात को यदा देवदत्त गच्छति देवदत्त जब गमन क्रिया से युक्त हो रहा है उस पर देवदत्त क्या बोलेंगे गंता बोलेंगे क्या बोलेंगे गच्छति तदा न स्थाता उस काल में स्थाता नहीं बोलेंगे फिर फिर नहीं बोलेंगे तिष्ठति हाँ, गति निवृत्ति नहीं उसकी यदा देवदत्तों गच्छति तदा न स्थाता जब देवदत्त चलता है उस काल में स्थाता नहीं होता बैठा हुआ नहीं होता गंदा ही वो उस काल में गंदा ही कहलाएगा जब गतिमान हो रहा तो गंदा कहलाएगा उस काल में देवता यदा तिष्ठति तदा न गंदा जब बैठ जाता है खड़ा हो जाता है तो फिर गंदा नहीं रहेगा उस काल में तब तो खाता बनेगा तो अब संशय होता है देवदत्व में कौन सा धर्म है गंतृत्व तो है कि छात्रित्व तो है जब चलता है तो गंता बन रहा है और बैठ खड़ा हो जाता है तो थाता बनता है उस काल में गंतृत्व तो नहीं दिखता खड़े होते समय में चलते समय में थातृत्व नहीं स्थितित्व नहीं दिखता तो कौन सा धर्म वाला देवता संशय होगा एक यदा देवदत्व का क्षति तदा न खाता गंता है उस काल में तो गंता ही रहेगा देवदत्त गमन क्रिया युक्त दिखाई पड़ता है और यदा तिष्ठती जब खड़ा हो जाता है था गति निवृत्तो गति को रोकता है तदा न गंधा उसका काल गंदा नहीं होता गंतृत्व तो नहीं दिखता थाता है वो तथा स्थितित्व तो आ जाता है थातृत्व तो आ जाता है हाँ, जब ऐसे स्थिति है तब तदा अश्य पक्षे एवं गंतृत्व थातृत्व देवदत्त का अश्य मन देवदत्त व्यक्ति का एक पक्ष में गंतृत्व है एक पक्ष में स्थातृत्व है यही दिखाई पड़ता है जब चलेगा तो गंतृत्व दिखता है और खड़ा हो जाएगा तो छात्रित्व दिखता है पक्ष में एक एक पर न नित्यम गंतृत्व छात्र दोनों नित्य नहीं हो गंतृत्व भी छात्रित्व गंतृत्व भी नित्य नहीं क्यों खड़ा होता है तो गंतृत्व नहीं दिखता है नित्य नहीं है अनित्य दिखता है और छात्रित्व भी नित्य नहीं जब चलता है तो छात्रित्व नहीं है न नित्यम गंतृत्व छात्रित्व का ये दोनों के दोनों नित्य नहीं है कल्पना है जब गमन क्रिया के कारण गंतृत्व स्थिति क्रिया का है धातु इसी प्रकार आत्मा में भी यही दोनों होंगे श्रोता जब शब्द को सुनेगा बाहर के शब्द सुनेगा तो श्रोता श्रोतृत्व श्रोता बोलते हैं मनन काल में नहीं है वो श्रोतृत्व नहीं है तो अनित्य है आत्मा नित्य नहीं है ये कहना देखा तद्वत उसी प्रकार आत्मा में रहा श्रोतृत्व आदि भी नित्य नहीं है आत्मा स्वरूप रूप से तो नित्य है किंतु अपने स्वरूप से अनित्य है वो स्वतंत्रत्व माने अधिष्ठान रूप से तो नित्य है आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं जैसे घट को दो रूप से दिखाई देखने की तरीका है अगर उसके उपादान कारण मिट्टी रूप से देखेंगे तो वो सही है और अपने रूप जो आकृति रूप में देखेंगे तो मिथ्या है मिट्टी रूप से तो सत्य है और अपने आकृति रूप में घट को देखना चाहते हैं तो मिथ्या है इसी प्रकार यहां भी गंतृत्व स्थातृत्व अपने स्वरूप से मिथ्या है और अधिष्ठान रूप से देखेंगे आत्म रूप से तो सत्य है वो ऐसा हो ठीक है तत्र किम धर्मवत्व प्रतिपादन से कागती थी पृथ्वी किम्बा आदि प्रतिपादन अश्रोतृत्वादिकम असिद्धम उच्चते वायु विकल्पना किया सिद्धांत पूछते हैं तुमने दो दो प्रश्न किया है समय आत्मा समय आत्मा इति विद्या ये कैसे होगा एक प्रश्न किसी तरह नहीं जाना जाता है किसी इंद्रियों का विषय नहीं मन का विषय नहीं यही तो साधन है आत्मा को जानने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं अनुमिति का विषय जब नहीं है तो समय आत्मा विद्या की स्तुति को संगति कैसी होगी एक प्रश्न दूसरा था कथम बात श्रोता मनता आत्मा को श्रोता मनता कैसे कहेंगे श्रोतृत्व आदि व्यापार के द्वारा श्रोता मनता बोलना है श्रवणादि व्यापार के द्वारा अनुमान से श्रोता मनता बोलना है तो श्रवणादि व्यापार के द्वारा अनुमति नहीं हो सकती तो कैसे श्रोता मंत्र कहेंगे दो प्रश्न था उसमें पूछते हैं आप तो पहले वाले का उत्तर तो बाद में देंगे समय आत्मा विद्यात का तो बाद में उत्तर होगा उसका मान जब उसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि जब मन बाहर जाना बंद कर देगा इंद्रियों के माध्यम से मन भीतर में अपने आप चुप हो गए एकाग्र हो जाएगा तो आत्मा स्वयं स्फूरित हो जाएगा स्वयं प्रकाश हो जाएगा ये अर्थ आगे करेंगे दूसरे वाला जो श्रोता मंत्र का अर्थ करते हैं इसके लिए दो विकल्प खड़ा करके पूछते हैं तत्र किम धर्मवत्व प्रतिपादन से कागज श्रोता श्रोतृत्व धर्म होगा और धर्मपान होगा आत्मा उसमें रहेगा धर्मवत्व श्रोतृत्व तो आत्मा को श्रोतृत्व कहा उसकी क्या गति है कैसे घटेगा आत्मा में श्रोतृत्व धर्म ऐसा प्रश्न है ये पूछा जाता किम बात श्रोतृत्वादि प्रतिपादन है ना आत्मा को जो श्रोता मनता कहा है इसके प्रतिपाद हुआ अश्रोत्रम असिद्धम अश्रोत्रता की हो नहीं सकता ये कहना चाहते हैं श्रोता बोल दिया तो अश्रोता नहीं हो पाएगा आत्मा ये कहना चाहते दो में से क्या है या तो वो धर्म जो श्रोतृत्वादि धर्म आत्मा में आता है उसके कैसे संगति लगा हुई पूछना है अथवा श्रोतृत्वादि का जो प्रतिपादन होगा तो अश्रोत्रवादी नहीं हो सकता अश्रोतृत्वादि नहीं हो सकता है आत्मा श्रोता ही बनेगा अश्रोता नहीं बन सकता ये कहना चाहते हैं ये दो विकल्प खड़ा करके पहले वाले को खंडन करते हैं माने धर्म के बारे में श्रोतृत्वादि धर्म की क्या गति होगी उसके बारे में कहा नित्यम ये बस श्रोतृत्व धर्म का अंगीकारात इत्या श्रोतृत्वादि धर्म हम नित्य मानते हैं आत्मा स्वरूप आत्मा के स्वरूप से श्रोतृत्वादि धर्म से नहीं धर्मी के रूप से नित्य में वह धर्म अंगीकार हम नित्य श्रोता मानते हैं आत्मा को कैसे टिप्पणी का तीन नंबर में नित्य में तथा श्रोतृत्वादे स्वरूपतया प्रकारत्वा भावादेव श्रोतृत्वादी आत्मा का स्वरूप ही है श्रोतृत्वादी आत्मा में कल्पित है कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होता नहीं घट मिट्टी ही है मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता रज्जु में भाषने वाला सर्प रज्जु ही है रज्जु से अतिरिक्त नहीं होता अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता इसी प्रकार श्रोतृत्व आदि जो धर्म है या आत्मा का स्वरूप ही है स्वरूप रूप से प्रकारत्व अभाव आत्मस्वरूप है इसलिए प्रकार बनने से विशेषण नहीं बन सकता जाति नहीं बन सकते श्रोतृत्व आत्मा के लिए उपाधि नहीं बन सकते न सब प्रकार प्रत्यक्ष विषय तो इसलिए प्रकार के से आत्मा का ज्ञान नहीं होना है श्रोतृत्व आदि को प्रकार विशेषण बना करके आत्मा का ज्ञान नहीं होना है न प्रकार का प्रत्यक्ष आदि विषय प्रकार माने विशेषण सब प्रकार में सहित प्रत्यक्षादि विषय नहीं होता आत्मा का ज्ञान तद अविषयत्व भी सब प्रकार का विषय न होने पर ज्ञान आत्मा में तथा प्रतिपादन फिर भी श्रोतृत्व आदि का जो प्रतिपादन होता है जो अविरुद्ध तो विरोध नहीं आता है स्वरूप आत्मा का स्वरूप है ये कहना चाहते हैं नित्य श्रोतृत्वादिगम इत्या श्रोतृत्वादी एक भाषण का श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा अश्रोतृवादि प्रसिद्ध आत्मा आत्मा में श्रोतृत्वा भी दिखता है और श्रोतृत्वा भी दिखता है दोनों कितने तो दिखता है ये कहना चाहते हैं कैसे तो टीका में देखिए न श्रोता न मंदा यदि श्रुते श्रुति में ऐसा है आत्मा के विषय में श्रोता मंदा कथम बोला तुमने बोला श्रुति ये भी बोलते न श्रोता न मंदा ये भी बोलते आत्मा श्रोता नहीं मंदा नहीं न श्रोता न मंदा इत्यादि श्रुते नित्यमेव अश्रुत्वादी रवि प्रमाणित ये श्रुति ऐसे तो श्रोतृत्व नहीं है आत्मा में बोलते न मानता न श्रोता वो भी नित्य है आत्मा में श्रोतृत्व आदि भी नित्य है अश्रोतृत्व आदि भी नित्य है सिद्धांत ऐसा बोलता है ठीक है न श्रोता न मनता इत्यादि श्रोत नित्य में अश्रोतृत्वादेर भी प्रामाणिकत्वाद नित्य ही है प्रामाणिक है न श्रोता न मनता श्रुति है प्रामाणिक होने से न द्वितीय भी इत्यादि दूसरा भी नहीं होगा दूसरा क्या था ये प्रकार कैसे बनेगा ये वाला प्रश्न है धर्मवत्व के विषय में प्रश्न है अथवा श्रोतृत्वादि प्रतिपादन होता आदि नहीं रहेंगे कहा असिद्ध होगा असिद्ध में सिद्ध है श्रुति भी बोला है न श्रोता न मनता सिद्ध है सिद्धांत कहना चाहता आदि च प्रसिद्धम आत्मा कहा आत्मा में श्रोतृत्वादि प्रसिद्ध है श्रोता मंता श्रुति से प्रसिद्ध है और अश्रोतृत्वादि कहा न श्रोता न मंता इसे प्रसिद्ध है दोनों प्रसिद्ध है आत्मा में आगे टीका में न श्रोता न मंता इत्यादि श्रुते हम एवं अश्रुत्वादि प्राण इत्या अच्छा उभयोर अविरोधम तो उत्तर उत्तरत्र वक्षा ये दोनों श्रोतृत्व अश्रोतृत्व दोनों जो दिखते हैं इसमें कोई विरोध नहीं होता आगे हम बताएं यद्यपि श्रोतृत्व जहां रहेगा अश्रोतृत्व एक ही व्यक्ति में दो धर्म नहीं होगा इसमें मनुष्यत्व है तो पशुत्व नहीं रह सकता है विरोधी धर्म नहीं रह सकता आत्मा में दोनों दिख रहे हैं श्रोतृत्व क्यों तो श्रुति बोल रही है श्रोता मनता ये भी बोलती है न श्रोता न मनता ये भी बोलती है दोनों धर्म दिखा रही है श्रुति तो इसका जो विरोध होगा उसको आगे हम बताएंगे ये सिद्धांत बोलते उभयोर अविरोध अंश दोनों का जो अविरोध होगा या तो विरोध दिख रहा है श्रोता बोलना और अश्रोता बोलना अविरोध जो होगा वह आगे उत्तरत्र वक्षामा आगे हम बताएंगे एवं च श्रोता मनता न श्रोता न मनता तो उभय सर्वण से जब दोनों स्मृति सुनाई पड़ेगी आत्मा के विषय श्रोता मनता भी है और न श्रोता न मनता ये भी सुनाई पड़ने पर दोनों सुनने पर श्रोतृत्व आदि धर्मान एवं अन्य अन्यतर परिग्रह परिश्रम कवन युक्तम इसलिए तुम्हारे यहाँ विषमता है विषमता करना ठीक नहीं सिद्धांत बोल रहे पूर्वादि क्यों तुम एक ही को पकड़ रहे हो श्रोता मंता कथम श्रोतृत्वादि धर्मांत कैसे आत्मा है एक ही पक्ष पकड़ना ठीक नहीं जब श्रुति दोनों ही है श्रोता मंता भी बोलती है न श्रोता न मंदा भी बोलती है तो फिर एक तरफ पक्षपात करके श्रोता मंता को भी पकड़ के बैठना ये पक्षपात करना विषमता तुम्हारे लिए ठीक नहीं सिद्धांत तो उभय श्रवण सती श्रोतृत्वादि धर्मावन एवं आत्मा श्रोतृत्वादि धर्म वाला ही आत्मा है मानना और श्रोतृत्वादि तो को नहीं मानना ये अन्य तरह परिग्रह वैषम्यम ये एक को विशेष रूप से ग्रहण करना विषमता तब अनुतम तुम्हारे लिए ठीक नहीं सिद्धांत ने कहा किमत्र विषमम पश्यसी ये सिद्धांत ने कहा क्यों इस विषय विषम क्यों देखते हो जब श्रोता मनता दिखता है तुम्हें श्रुति तो न श्रोता न मनता इसको भी देखो ना ठीक है चार नंबर विवेचन वैष्णव में प्रवृत्त तथा किम इति अश्य जो किमात्र में जो किम है उसका अर्थ ये करना किम इति इत्यर्थ किम इति ऐसा अर्थ करना जो किम के आगे इति लगा करके किम इति अत्र विषमम न पश्यसी इस विषय में तुम्हें विषमता क्यों नहीं दिखती ऐसा अर्थ करना ये अच्छा आगे पूर्वादि शंका करता है ननु श्रोतृत्व श्रुतेर अन्य परत्व उपपत्तेर ननु अश्रोतृत्व श्रुतेर अन्य परत्व उपपत्तेर जो अश्रोता न श्रोता न मनता कहा उसके उसमें तात्पर्य नहीं अश्रोतृत्व का अन्य पर का अर्थ है उसका उसका अन्य अन्य कोई अर्थ निकलेगा वहां जैसा सुना वैसा अर्थ नहीं है आत्मा न श्रोता न मनता ऐसा अर्थ नहीं है उसका अर्थ अन्य पर है श्रोता मंदा का तो जो कहा वही अर्थ है किंतु तो न श्रोता न मंदा जहां कहा उसका अर्थ वो नहीं है अन्य अन्य परक है नो अश्रोतृत्व श्रुते जो न श्रोता न मंदा कहा उस श्रुति का अन्य परत्व को करते हैं न वैषम विषमता नहीं होगी श्रोता मंदा ही आत्मा ये पूर्वादि की शंका है अन्य परत्व मानी क्या होगा तो पांच टिप्पणी कहा ज्ञान कादाचित परत्व आत्मा का ज्ञान कभी होता है कभी नहीं होता है सुसुप्त आदि में नहीं होता कभी व्यवसाय अवस्था में नहीं होता है कभी होता है इसका तात्पर्य अश्रोता बोला है तो श्रोता ही है वो किंतु जब किसी किसी अवस्था में आत्मा का ज्ञान नहीं रहता है तो अश्रोता कह दिया हो ज्ञान का अभाव दिखाया ज्ञान कदाचित होता है इस पर तात्पर्य उसका उसके आत्मा नहीं सुनता ये बात नहीं है न श्रोता नहीं होता जो पूर्वाज ने कहा तो सिद्धांत जाएंगे आगे काल न उभयरपी दर्शनाथ अन्य तरह से अन्य परत हेतु आवाज सिद्धांत बोलते देखो काल भेद से दोनों दिखाई पड़ता है एक काल में आत्मा शब्द का श्रवण करता है तो श्रोता होता है जब मनन करता है तो उस काल में अश्रोता हो जाएगा कालभेद से आत्मा श्रोता और अश्रोता दोनों हो जाएगा मनन काल में श्रोता नहीं है उसमें श्रोतिक तो धर्म नहीं है ये कहते हैं सिद्धांत कहते हैं काल भेदे न उभयोर अभी श्रोतृत्व और अश्रोतृत्व धर्म दोनों आत्मा में दिखाई पड़ते हैं कालभेद से उभयोर अभी दर्शनार्थ श्रोतृत्व अश्रोतृत्व दोनों दिखता है जब श्रवण करेगा तो श्रोता होता है उस काल में और मन काल में श्रोतृत्व ने मंत्रित्व दिखेगा तो मनता दिखेगा दोनों दिखाई पड़ता है इसलिए अन्य तरह से अन्य परत दो में से एक को तुम अन्य परक अर्थ अश्रोतृत्व को आत्मा का ज्ञान काराचित को बोलना चाहते हो ये घटाना ठीक ठीक नहीं दो में से किसी एक को ऐसा अर्थ करते अन्य परक आयोग ऐसा कहना ठीक नहीं काल वेद से दोनों दिख रहा है श्रोतृत्व अश्रोतृत्व दोनों धर्म दिख रहा है आत्मा में इसलिए अन्य तरह से अन्य परत्व हेतु अभाव दो में से किसी एक को अन्य अर्थ कर देना कादाचित का अर्थ है अश्रुतित्व का अर्थ ऐसा करना ठीक नहीं हेतु नहीं उसे कारण नहीं मिलता इसलिए श्रोता एवं यदि हम कहा करें वैषम से आत्मा श्रोता ही होता है ऐसा कहना पूर्वादि के मत है ये उसमें विषमता है इस सिद्धांत ने कहा वैषम्य आह श्याव एवं यद्यपि तवन विषम तथा वे मम तो विषम प्रतिभाती ये सिद्धांत का यद्यपि तुम्हें तो विषमता नहीं दिख रहा है हाँ, श्रुति दोनों है श्रोता मनता भी है न श्रोता न मनता भी है तुम्हें श्रोता मनता ही दिख रहा है और न श्रोता न मनता को अन्य पर अर्थ करना चाहते हो किंतु कालवेद से दोनों दिख रहा है जब आत्मा सुनता है तो श्रोता बनता है मनन करता है तो अश्रोता बन जाता है उस काल में फिर भी तुम एक पक्षपात करके नहीं वो कादाचित ज्ञान परत्व है अश्रोता को ऐसा अर्थ कर देना ऐसा ठीक नहीं है तुम्हें विषमता नहीं दिखता है क्योंकि मुझे तो विषमता दिखती है थोड़ा ठीक है आज हाँ, कहते हैं अश्रुत्वादि इति प्रसिद्धम आत्मा यदि पाठ है भाष्य में यदि पाठ ऐसा हो श्रोतृत्वादि धर्मान आत्मा अश्रुत्वादि अश्रुत्वादि प्रसिद्धम अनात्मना ऐसा यदि पाठ हो आत्मना के यहां तो आत्मना पाठ दिया है भाष्य में या अनात्मन यदि पाठ हो तो अलग अलग हो जाए इस काल में श्रोतृत्वादि आत्मा का है और अश्रोतृत्वादि अनात्मा का है यदि ऐसा हो पाठ यहां तो ऐसा पाठ नहीं है अश्रोतृत्व का आगे अनात्मना यदि पाठ हो भाष्य यदि ऐसा पाठ हो तो दूसरे ढंग से थोड़ा लगाना पड़ेगा कहा अश्रोतृत्वादि प्रसिद्धम अनात्मना यदि पाठ है ऐसा पाठ यदि भाष्य में मिले तो यहां तो नहीं है पाठ यहां तो आत्मना पाठ है प्रसिद्ध आत्मा अनात्मा यदि लिखा हो पाठ ऐसे पाठ होने पर नौनु इति वाक्य होती ये जो नौनु वाक्य सिद्धांत का था किंतु इस स्थिति में नौनु वाक्य भी पूर्व पक्ष की ओर चला जाएगा ऐसा पूर्ववादी की शंका में आ जाएगी कहा ऐसा क्योंकि श्रोतृत्वादि आत्मा का और अश्रोत अनात्मा का होगा तो फिर ननु भी पूर्वादि के मत में आएगा ये कहा अस्तृत्व प्रसिद्ध अनात्मनिक पाठ है ननु इति वाक्यम अभी जो ननु वाक्य सिद्धांत कथा अभी किंतु वह वाक्यम की शंकांतर्गत में हुआ पूर्ववादी की शंका के अंतर्गत पूर्व में शंका चल रही पूर्ववादी की कथम समय आत्मा विद्या कथम वास्तवता श्रोता ममता इत्यादि था वो ननु वाक्य भी पूर्ववादी के मत में जाएगा श्रोता इत्यादि श्रुतिया श्रोतृत्वादि धर्मान आत्मा ननु कथम तवस्यात ऐसा हो जाएगा श्रोता इत्यादि सुनाई पड़ा है श्रोता मंत्र श्रुति में सुनाई पड़ा है पूर्वादि की शंका में है यह श्रोतृत्व धर्मान आत्मा ये आत्मा ननु तत् कथम से श्रोतृत्व आदि कैसे होगा जब विषय नहीं बनेगा तो हाँ। अनुमिति का विषय भी नहीं प्रत्यक्ष विषय भी नहीं तो ये पूर्वादि की शंका के अंतर्गत हो जाएगा सिद्धांत कहते हैं ननु न श्रोता इत्यादि श्रोतर अश्रुत्वादि धर्म वत्तम आत्मा आत्मा में अश्रोतृत्वादि धर्म दिखाया है कहा न श्रोता न मनता आत्मा में ऐसा कहा कि सिद्धांति शंका कर दे हाँ। नु ये सिद्धांति की शंका टीका में ननु न श्रोता इत्यादि श्रुतेर न श्रोता न मनता ये भी तो श्रुति है इस श्रुति से अश्रोतृत्वादि धर्म आत्मा आत्मा में तो अश्रोतृत्वादि धर्म दिखा है कहा श्रोतृत्व धर्म दिखता है न श्रोता न मनता कहा है ऐसे शंका की तो पूर्वादि बोलता है लोके अप्रसिद्धेर नहीं लोक में अश्रोता अमनता नहीं बोलते आत्मा पूर्वादि बोलेगा लोग में क्या बोलते हैं श्रोता मनता बोलते हैं आत्मा को अश्रोता नहीं बोलते आत्मा को हाँ, अश्रोता तो कहते घट अश्रोता है अनात्मा में ले जाता है अश्रोता को घट नहीं सुनता है हम सुनते हैं आत्मा सुनता है ऐसा बोलते हैं हाँ, अश्रुत्वादि धर्म आत्मा में नहीं दिखता लोग में प्रसिद्ध नहीं है अश्रोतृत्व धर्म जो कहा दिखता है अनात्मा में दिखता है लोग में ऐसा है पूर्वादि ने कहा लोग अप्रसिद्ध है आत्मा में अश्रोतृत्व तो धर्म प्रसिद्ध नहीं है इसे दैव पूर्वादि कहेगी थी सएव संगवादी यही बोलेगा सएव अश्रोतृत्वादी इत्यादि करके बोलेगा वो का प्रसिद्धम अनात्मा बोलेगा उभयोरपी आत्मधर्मत्व सर्वणे जब दोनों आत्मधर्म सुनाई पड़ रहा है श्रोतृत्व अश्रोतृत्व दोनों आत्मधर्म तो सर्वणे समान है समान होने पर सिद्धांत बोलना चाहते हैं श्रोता मनता बोला तो श्रोतृत्व दिख रहा है और न श्रोता न मनता तो अश्रोतृत्व दिख रहा है आत्मा में दोनों समान जब दिखता है और अभी आत्मधर्मत्व सर्वदय समान है समान होने पर अन्य तरह से अनात्म धर्मत्व एक के लिए बोल देगा कि अनात्म धर्म है कौन अश्रोतृत्व ऐसा बोलना एक पक्षपात होगा इस सिद्धांत बोलते हैं अन्य तरह से अनात्म धर्मत्व अभिधानम मैंने कथनम न युक्तम अयुक्तम ये ठीक नहीं ये सिद्धांत बोलते हैं सिद्धांत ये कहते हैं विषय मात्र विषम पश्यसी ये सिद्धांत बोलते हैं पूर्वादि कहेगा नानू लोक प्रसिद्धि बना लोक में आत्मा को अश्रोता नहीं बोलते हैं बात यह है आत्मा को श्रोता ही बोलते हैं चेतन है ना अश्रोता तो अनात्मा में घटादि अश्रोता है बोलते घट सुनता नहीं है ऐसा बोलते हैं उस तो लोक प्रसिद्धि है इसी के बल से हम उसको अनात्म धर्म मानते हैं किसको अश्रोतृत्व को श्रोतृत्व चेतन का धर्म आत्मधर्म मानते हैं लोक प्रसिद्धि के बल से यद्यपि श्रुति में न श्रोता न मानता बोला है वो तो अनात्म विषय लेकर लोक में ऐसे प्रसिद्ध है अश्रोता शब्द अनात्मा में प्रयोग होता है ये पूर्वादि शंका कर रहा है अश्रोतृत्वादेर आत्मधर्मत्व भी लोक प्रसिद्धि बला पूर्वादि का लोक में प्रसिद्ध है अनात्म धर्म दिखाता है बला अनात्म धर्म तो निश्चय जो न श्रोता न मनता जो बोला गया है जो अनात्म धर्म अश्रोतित्व अनात्म लोक में प्रसिद्ध ऐसे ही है आत्मा को तो श्रोता बोलते हैं और घट आदि को अश्रोता बोलते हैं न वैषम्य संगीत इसलिए हमने कोई विषमता नहीं की हाँ, श्रोता मरता कैसे हो सकता जो पूछा ये ठीक है हमने यद्यपि कहा यद्यपि तगुण तो विषम होता था इत्यादि कहा पूर्वाधि सिद्धांत कहना चाहते हैं अश्रुतृत्वादेर आत्मधर्मत्व प्रसिद्ध है अश्रुतृत्व को आत्मधर्म भी प्रसिद्ध है कब प्रसिद्ध है देखो जिस काल में मनन करेगा आत्मा तो उस काल में श्रोता नहीं बनता अश्रोतृत्व रहेगा का ऐसा प्रसिद्ध है जिस काल ये आत्मा सुनता है शब्द सुनता है तो श्रोतृत्व धर्म आएगा और जिस काल में मनन करेगा उस काल में मंत्रित्व आता है आत्मा में प्रसिद्ध है अश्रोतृत्व भी किस काल में मनन काल में श्रोतृत्व नहीं श्रवण काल में मंत्रित्व नहीं एक दोनों लग जाते हैं एक अलग जाते हैं अश्रुतृत्वादेर आत्मधर्मत्व भी आत्मधर्म मानने पर प्रसिद्ध प्रसिद्ध है ये भी पूर्वाज ने कहा था अप्रसिद्ध कहा था अनात्मधर्म कहा था सिद्धांत यही प्रसिद्ध है अस्तृत्व अविशेषा दोनों समान है आत्मधर्म में श्रोतृत्व अश्रोतृत्व समान होने पर समान होने से श्रुति अनुरोधे उभयोरअपी आत्मधर्मत्व श्रुति दोनों बोल रही है श्रोता मनता अश्रोता अमनता श्रुति के अनुरोध से दोनों के दोनों आत्मधर्म ही मानना होगा ये सिद्धांत कहते हैं हाँ, व्यावहारिक रूप से आत्मधर्म ही मानना पड़ेगा उसको प्रश्न पूर्व का यही कहना कथम पूर्वाज ने प्रश्न कर दिया आगे उत्तर देंगे सिद्धांत ये तरफ समान है बाकी समान है यही बोल दिया सिद्धांत कहते हैं त्वया ही काराजित ज्ञान में देव श्रोतृत्वादिगम अंगीक्रिय थे तद अयुक्तम इत्यास तो कदाचित ज्ञान को लेकर के तुम तो नित्य श्रोता मानते हो अश्रोता को कदाचित ज्ञान परक मानते हो आत्मा को नित्य श्रोता मानते हो सिद्धांत पूर्वाजी से कह रहे त्वया ही पूर्वक्षणा कादाचित का ज्ञान है ना कादाचित ज्ञान होता है ज्ञान हमेशा नहीं होता विषयों का ज्ञान कभी कभी होता है जब शब्द सुनेगा तो श्रोतृत्व होगा इसके द्वारा नित्य में वो श्रोतृत्व के लिए आत्मा नित्य श्रोता हो जाते ऐसा स्वीकार किया जाए तद अयुक्तम कादाचित का ज्ञान के द्वारा आत्मा को नित्य श्रोता माना ठीक नहीं जब श्रवण शब्द सुनेगा ज्ञान होगा उस काल में श्रोतृत्व है जब मनन करने अन्य घ्राण क्रिया करेगा सुनने लगेगा तो श्रोता नहीं उस काल में वहां तो ग्राता बनेगा श्रोता भी अनित्य दिखता है ये कहना चाहते हैं यदा असौ इत्यादि ये भाष्य में कहा था यदा असौ श्रोता तदा न मनता जिस काल में श्रोता बनता है उस काल में मनता नहीं बनता और यदा जब मनता तदा न श्रोता जिस काल में मनता बनता है उस काल में श्रोता नहीं बनता जब मनन करने लगेगा तो श्रोतृत्व धर्म नहीं है जब शब्द सुनने लगता है तो मंत्रित्व नहीं है ऐसा हो जाता है तथा एवं सत्य जब ऐसी स्थिति है पक्ष श्रोता मनता एक पक्ष में श्रोता बनेगा एक पक्ष में मनता बनेगा आत्मा पक्षे न श्रोता ना भी मनता एक पक्ष में श्रोता नहीं बनेगा मनता भी नहीं बनेगा ऐसा विकास न मते न मनता इति अनंतरम न तो नियम नित्य में श्रोता मनता हुआ चेता भाष्य में जो न मनता है ना जहां पर हाँ, यदा यदा एवं श्रोता तदा न मनता न मनता के आगे ये होगा ये पंक्ति लगाना कि नित्य न तो नित्य में को श्रोता बनता रहा नित्य श्रोता बनता नहीं होता आत्मा कभी श्रोता बनता है कभी मनता बनता है नित्य श्रोता भी नहीं बनता नित्य मनता भी नहीं जब सुनेगा तो मनता नहीं है जब मनन करता है तो श्रोता नहीं होता विशेष लगाने का अगर तथा अन्यत्रापि बोल दिया था जैसे दृष्टांत दे दिया जिस काल में व्यक्ति शब्द सुनता है उस काल में मनन नहीं कर सकता मनता नहीं बनता जिस काल में मनन करता है तो शब्द नहीं सुन सकता तो श्रोता पाक्षिक है मनता भी पाक्षिक है तो फिर श्रोता को नित्य कैसे मानोगे ये सिद्धांत ने कहा दृष्टांत देते हैं इसके लिए अन्यत्र अन्य भी दृष्टित्व विज्ञातृत्व जिस काल में दृष्टित्व आएगा दृष्टा बनेगा रूप देखता है उस काल में ज्ञान नहीं होता उसको जब विज्ञात विज्ञाता होगा ज्ञान होगा उस काल में दृष्टा नहीं बनेगा उस काल में विज्ञाता बन जाएगा ज्ञान काल में दर्शन काल में दृष्टा ज्ञान काल में विज्ञाता हाँ, तो विज्ञान काल में दृष्टित्व का अभाव हो जाएगा अद्रष्टित्व आ जाएगा और दर्शन काल में अविज्ञातृत्व आ जाएगा ऐसे चलेगा दृष्टित्व विज्ञातृत्व अभी एवं एवं ऐसे ही समझना कादाचित्व एवं कभी दृष्टा बनता है तो कभी विज्ञाता बनता है हमेशा न दृष्टा है न विज्ञाता है रूप सामने है तो दृष्टा बनेगा और रूप नहीं है तो अदृष्टा बन जाएगा ऐसा हो जाएगा श्रोतृत्वादे पाक्षिकत्व दृष्टांत ने पष्टि करते श्रोतृत्वादि धर्म आत्मा में पाक्षिक है कभी होता है कभी नहीं होता है नित्य नहीं है जब श्रवण काल में श्रोतृत्व होता है मन काल में श्रोतृत्व नहीं मंत्रित्व आ जाएगा ये जो श्रोतृत्वादि धर्म आत्मा में जो दिखता है पाक्षिक है नित्य नहीं है ये कारण दृष्टान्त है ना परिपष्टीकरण दृष्टान्त का स्पष्टीकरण करते हैं यदा ये दृष्टान्त है यदा देवदत्त गच्छती तदा न स्थाता देवदत्त व्यक्ति को लेकर के दृष्टान दिया जब देवदत्त चलता है उस काल में स्थाता स्थिर नहीं होता खड़ा नहीं माना जाता और जिस काल में बैठा हुआ होगा उस काल में गंता नहीं होता होगा घंटा भी पाक्षिक है थाता भी पाक्षिक है जब चलेगा तो थाता थातृत्व तो नहीं है जब स्थिति हो जाएगी देवदत्त की तो गंतित्व तो नहीं है ऐसा होगा ठीक है ठीक है तदा अश्य इत्यत्र यदा एवं इति पदम अध्याहित यदा एवं व्यवस्था तदा अश्य के पहले यदा एवं लगा देना कहते हैं यदा तिष्ठती तदा न गंता खाता एवं आगे तदा के पहले ये जोड़ देना यदा एवं व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिस काल में चलता है उस काल में थाता नहीं बनता जिस काल में थाता नहीं बनता जो बोल दिया और जिस काल में बैठा है तो था गंता नहीं होता कहा था इसके आगे इपम इतना लगा देना यदा एवं ये व्यवस्था करना यदा एवं पद में अध्याहित तदा अश्य के पहले यदा एवं इतने पद दो पद को अध्याहार करके यदा एवं व्यवस्था जब ऐसी व्यवस्था है स्थिति काल में गंता नहीं होता गमन काल में थाता नहीं होता देवदत्ता ऐसी व्यवस्था है जब तदा अश्य पक्षे एवं गंतृत्व विधि वाक्य में इसलिए देवदत्त में जो गंतृत्व आता है एक पक्ष में ही है नित्य नहीं है एक पक्ष में खातृत्व तो आएगा तद्वत इत्यादि बोल दिया तत्व तथैव को अपनी न नित्यम जैसे देवदत्त में नित्य नहीं है खातृत्व तो भी नित्य नहीं है गंतृत्व तो भी नित्य नहीं है जब बैठेगा तो गंतृत्व नहीं है जब चलेगा तो खातृत्व नहीं है इसी प्रकार सब श्रोतृत्व आदि में ऐसा समझ जब शब्द सुनता है तो श्रोतृत्व है जब अन्य घ्राण क्रिया करने लग जाता है श्रोतृत्व नहीं है अन्य क्रिया काल में ये क्रिया नहीं है ये भी नित्य नहीं ये कहा अत्रांतरे अविदित अभिप्राय कारणादादय उभयमें कादाचित गम्य वस्तु चो रहे कहते इस अभिप्राय को न जानने वाले जो नैयायिक वैशेषिक आदि हैं आदि वैशेषिक आदि हैं दोनों के दोनों कादाचित का है श्रोतृत्व अस्त्रोतृत्व आदि दोनों के दोनों कादाचित कभी होता है कभी नहीं ऐसा कहते हैं सिद्धांत उसके मत का भी खंडन करना चाहते हैं अत्र अंतर है इसके आगे अभित अभिप्राय अभित अभिप्राय सिद्धांत के अभिप्राय को नहीं जाना जिन्होंने क्या कहना चाहते हैं ये सिद्धांत अभिदित है अभिप्राय जिनका ऐसा जो काणादालय काणादादि वैशेषिक आदि उभयम अपनी दोनों के दोनों श्रोतृत्व और मंत्रित्व आदि जो भी है दोनों के दोनों श्रोतृत्व और अश्रोतृत्व दोनों धर्म कादाचितम एवं अस्तु दोनों ही कदाचित हो कभी कभी होता हो कभी श्रोतित्व तो कभी अश्रोत्य आत्मांतर में हो ऐसा इसी चौदह ऐसे प्रश्न करते हैं कहा अत्र कहा भाष्य में कहा अत्र काणादय काणादादय पश्यंते काणाद आदि काणादि होते हैं वैशेषिक आदि से लेना नैयायिक आदि पक्ष प्राप्त नहीं श्रोतृत्वादि ना आत्मा उच्चते श्रोता मनता एक पक्ष में प्राप्त जो श्रवण करता है तो आत्मा को उस काल में श्रोता मंता कहा जाता है श्रोता बोलते हैं आत्मा उच्चते श्रोता पक्ष में प्राप्त होने से श्रोतृत्व श्रोतृत्व धर्म श्रोतृत्व धर्म श्रोता मंत्रित्व धर्म से मंता एक पक्ष में प्राप्त है और एक पक्ष में प्राप्त नहीं होगा जिस काल में श्रवण शब्द नहीं करेगा और श्रोता आदि हो जाएगा ऐसा दोनों ही ऐसा हो जाएगा बोला चाहते हैं दोनों का आदाचित क्या कहना चाहते हैं और दूसरी बात ये भी कहते हैं संयोग तत्वम अयोग पद्यम से ज्ञान से ही आकर्षित है आत्मा और मन के संबंध से ज्ञान पैदा होता है आत्मा का मन मन का आत्मा के साथ संबंध होगा तभी आत्मा में संभाव्य संबंध से ज्ञान पैदा होता है ऐसा मानते हैं संयोग तत्व आत्मा और मन के संयोग जन्य होता है ज्ञान और अयोग पद्यम चाह एक साथ सारा ज्ञान नहीं होगा सारे विषयों का ज्ञान एक साथ नहीं होगा एक एक करके ज्ञान होता है वो क्षण इतने जल्दी जल्दी हो जाता है एक एक क्षण बदल करके ज्ञान होता है एक एक काल में एक ही विषय का ज्ञान हो रहा है अनेक विषय का ज्ञान नहीं होता उन्होंने बहुत कुछ करके सोचा है बहुत विचार करके विचार किया है एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होता क्षण भेद से होता है कई शंका उठाई बहुत सारे न्याय मुक्तावली आदि में गुलाब के पंखुड़िया पत्तियां हैं कोमल पत्ती फूल या एक सौ पत्ती रखी होगी था डांग लगा के दो किला सुई लेना उसको छेद करने में कितने समय लगेगा कितना लगेगा आपको लगे एक क्षण जैसा लगता है होगा सौ पत्ता रखा हुआ है किंतु नोकीला सुई से नोकीली सुई से मारा एक क्षण में लगा किंतु एक क्षण में नहीं होता वो कहते हैं सबसे पहले वो पूर्व पत्ते के साथ संयोग होगा सबसे ऊपर में पत्ते के साथ वो सुई का नोक का संबंध होगा उसके बाद उसमें छेदन क्रिया होगी फिर वो छेदन क्रिया होने के बाद उत्तर की तरफ जाएगा फिर पूर्व पत्ते का विभाग होगा उत्तर पत्ते के साथ संयोग होगा कई क्षण लगेंगे उसमें सारा क्षेत्र का एक क्षण में कहा होता है क्षण क्षण भेद से अनेक क्षण लगता है एक पालन कई तरह से समझाया तो अयोगपद्यम ज्ञान एक साथ नहीं होता अनेक वस्तु का ज्ञान एक काल में नहीं एक काल में एक ही विषय के ज्ञान होता है एक तो आत्मा और मन का संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा में संभावित मन से ज्ञान उत्पन्न होगा ऐसे उनका कहना है दूसरा अयोगपत्य होता है ज्ञान एक साथ नहीं होता अनेक दिशाओं का ज्ञान एक साथ नहीं होता है एक एक करके होता है मन का जिस इंद्रियों के साथ संबंध होगा उसी इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है एक काल में आत्मा में ज्ञान पैदा होता है मन का संबंध आत्मा में भी है इंद्रियों में भी है दोनों तरफ संबंध होता है मन का बाहर की तरफ इंद्रिया है भीतर की तरफ आत्मा है तो जिस इंद्रिय के साथ में मन का संबंध हुआ होगा तब इंद्रिय विषय ज्ञान आत्मा में पैदा हो जाएगा ऐसा ये कहना है तो वो कहना चाहते हैं पक्ष प्राप्त श्रोतृत्वादि ना आत्मा उचते श्रोतृत्व धर्म के द्वारा आत्मा कहा जाता है श्रोता पक्ष प्राप्त है श्रोता ममता इत्यादि और संयोग जब तुम अयोग मध्यम का ज्ञान से ही आचक्षण ज्ञान को ऐसा भी कहते हैं संयोग जन्य होता है आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान पैदा होता है ऐसा मानते हैं और अयोग मध्यम एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होता एक काल में एक ही ज्ञान होगा ऐसा ऐसा मानते हैं दर्शयती जा उन्होंने अपने न्याय सूत्र में लिखा भी है गौतम जी ने लिखा भी है न्याय सूत्र में अन्यत्र मना अभुगम एक दृष्टांत देते हैं श्री का अन्यत्र मना अभूवम न दर्शन मेरा मन कहीं अन्यत्र था अन्यत्र फंसा हुआ था या क्या बोला मुझे पता नहीं लगा ना दर्शन नहीं देखा मैंने क्या सामने था नहीं देखा तब वहां मेरी स्थिति भी होती है सामने क्या है वस्तु पता नहीं लगता हम दूसरे पूछते क्या क्या गया यहां आप खुली खुली थी किंतु वस्तु को नहीं पहचान पाए क्यों मन अन्यत्र था अन्य विषयों में फंस गया था देखते हुए भी नहीं देख पाए ऐसी स्थिति हो जाती है अन्यत्र मना अभुवम अन्यत्र मन वाला हो गया था मैं न अदर्शम मैं देखा देख नहीं सका ऐसा बोला जाता है माने मन और उस विषय का संबंध होने पर ही ज्ञान होता है यह इत्यादि कहा है अयोगपद्य है एक साथ नहीं होता और युगपद ज्ञान अनुपत्तिर मनुष्य लिंगम न्याय सूत्र है अनेक विषय सामने पांच विषय है शब्द स्पर्श रूप रस अंदर पांच ही विषय होते हैं माने श्रोत्रेन्द्र का विषय भी है चक्षु का विषय भी है ग्रहण का विषय भी सामने है त्वक का विषय भी है रसना का विषय भी सामने है पांचों विषय सामने है पांचों इंद्रिया हमारे पास है सामने है विषय सान्निध्य में है सब होने पर क्या होता है एक साथ सबका ज्ञान नहीं होता एक काल में एक ही विषय का ज्ञान होगा जिस काल में रस का अनुभव करेंगे रूप का ज्ञान नहीं जिस काल में रूप का अनुभव करेंगे रस का ज्ञान ऐसा होता है वहां बहुत विचार करके कहा हुआ हाँ। कहते हैं पापड़ में पांचों ज्ञान एक साथ होता है करके पूर्वाजी आए वहां जब पापड़ खाते हैं पापड़ खाते समय में गंध भी है उसका स्पर्श भी है उसका रूप भी है उसका रूप है गुण है सफेद रूप या पीला रूप जो भी होगा रूप भी है और कुरकुर आवाज भी आता है शब्द भी है शब्द स्पर्श रूप रस स्वाद भी है उसका रस भी है तो तो एक साथ होता है कहते हैं एक साथ नहीं जिस काल में रस का अनुभव लेता है उस काल में रूप का ज्ञान नहीं होगा जिस काल में पापड़ का रूप दिख रहा है सफेद रूप दिखता है उस काल में रस का स्वाद का अनुभव नहीं होता कभी कभी सब्जी में खाते खाते नमक का अनुभव नहीं होता हमें मन कहीं अन्यत्र हो जाता है नमक का अनुभव नहीं होता कभी कभी ऐसी स्थिति होता है वहां भी क्षण भेद है ऐसा बोलते हैं क्षण वक्ता शब्द बोल रहा है उस काल में श्रोता वक्ता को देखना भी चाहते हैं शब्द सुनना भी चाहते हैं दोनों एक काल में होता है भिन्न भिन्न काल में होता है सुनना और देखना वक्ता के आकार को देखना भी चाहते हैं चेहरा देखना चाहते हैं और शब्द सुनना तो है ही उन्होंने दोनों करना होता है श्रोता को दोनों चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों एक साथ होगा सुनना और देखना या भिन्न भिन्न होगा एक साथ नहीं होता जब देखता है जिस क्षण में उस काल में सुनता नहीं है जिस काल में सुनता है उस काल में देखता नहीं क्षण भेद है शीघ्र शीघ्र होता है इतना शीघ्र हो जाता है बहुत शीघ्र हो जाता है पता नहीं लगता जैसे दृष्टांत है एक सौ पत्ता गुलाब के कोमल पत्ते को यहाँ ढेर ढांग लगाना एक एक ऊपर एक के ऊपर करके मुंह के लिए सुई से घोपना आप कहते हैं एक क्षण में हो गया बोलते समय कुछ भी नहीं लगा किंतु वहां पर कितने क्षण लगे हुए सबसे पहला शंख तो सुई को उठा करके वहां पूर्व सबसे ऊपर के पत्ते में संयोग करना होगा क्या करना होगा संयोग उसके बाद छेदन क्रिया होनी होगी उस पत्ते में उसके बाद पूर्व के साथ विभाग होना सुई का फिर उत्तर दूसरे पत्ते में उसका संयोग होना कितने से फिर उसके बाद उसमें छेदन क्रिया शब्द क्षण क्षण लगेगा फिर दूसरे पत्ते में छेदन होने के बाद में फिर सुई का उसके साथ विभाग दूसरे पत्ते के साथ विभाग तीसरे पत्ते में संयोग करते करते कितने क्षण लग जाएगा आप कहते एक क्षण हो गया बहुत शीघ्र है क्षण एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होता योगपद ज्ञानानुपत्तिर मनसोलिंगम ऐसा भी इति न्यायम न्याय न प्राप्यम न्यायम पठ्यत्व धर्म न्यायाद अनतेते ऐसा सूत्र है व्याकरण धर्मात धर्म के द्वारा ही जो प्राप्त होगा उसको धर्मम बोलते हैं न्याय से ही प्राप्त होगा उसको न्यायम बोलते हैं न्याय शब्द से यद प्रत्यय करके न्यायम बनाते हैं पथ्यत धर्म धर्म न्यायात अनपेते ऐसा सूत्र है उससे हुआ है यद प्रत्यय न्यायम यदि पश्यंती ऐसा जानते हैं ऐसा माना समय हो गया है यह जानते हैं ओम बांग में मनसे प्रतिष्ठिता मनो में पासी प्रतिष्ठिता श्रुतं ये ममाप्रहासी रमे ममादीपे माघोरात्मां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवतु नाम् ओ वक्तारम्